जाके मिलिया तू ढाके के माए ये प्रभात के होने कुरी राजे मिलने का जब बोली झुमा जुजत का साहब पर यहाँ के सुनती नहीं अरे सत्तू का सज्जू का फेरा झूठ बोलती में क्या हर गल नहीं जाकर भी पहुंचा राझे बन का बीच में सूता सिंह ने क्या लिया जगाई जब उठा शेर ललकार के मारी जिस दिन क्या बनी गणाई सारा भी जानवर बन का उड़ गया गौड़ ने दरखत में धैस दिखाई जितनी भाई तो जवान जवान सब ने भय ना भग के क्या जान बचाई क्यों मेरा बुढ़ापा वो पे भगया गया नहीं मैंने सोच लिया एक चाल की फाड़ी एक चाल की नहीं फाड़ी एक दिन एक दिन सबके लिए मरना है अब मर को दुनिया में नहीं आया बहना मैं तो सारा हाल देख के नहीं आई हूं पहला भी वार किया था शेर ने रांझे पीर पे तीनों बार भगवान ने क्या दिया उकाई फली करी श्री भगवान ने रांझा लिया सिर से क्या तुरंत बचाई तीन बार खाली शेर का जो चली गई शेर कह लगा उन्हें कि मैं ऐसा काम पर मेरा तीन बार तो क्या हो अब तू तेरा वार कर ले जब लेके ना श्री भगवान का जब राजा ने क्या सांग उठाई मारी सांग घेरी घुमा के सत्तर पिन का जो सांझे की एक सांग में आ जाई मुड़ तुरबीर सिंह दो हो गया जापड़ा में सिंह ने क्या गिर दिखाई तो बात ये एक बार में राझे ने नौ तस्वीरें जो मार दिया शेर का मरने के बाद में शेर का तो प्राण मुकुत हो गया और सिंगनी और लेके बच्चा को रवाना हो रही राजे कहा कहने लगा उन्हें हे सिंगनी तू भग के मत जाए और जाने कितना दिन से तू सिंह का संग में शराम कर रही है और तो की बहुत गाड़ी मोहब्बत है और तू तेरा पति का बदला मेरे से ले जा क्यों इस टाइम पे तेरा पति मर गया तो तेरी आत्मा बहुत दुखी आज तू वारदात कर ले और मेरा धर्म है मैं अस्थि पे कभी वारदात नहीं करूंगा तू वारदात कर ले तो है ने कहने लगे उन्हें कि भाई सिंह नहीं कहने लगे उन्हें कि हो सिंह प्रदेश तू किस तरह की बात कर रहा है के शेर भी मरा तो पड़ा मर जान दे और करेगी बंदी क्या बन के माई मुगु सिंह घाटा नहीं है और मुक्ता शेर तैयार है तो ये बोली रांझे के दिल में है जो खटक रांझे ने दिल में सोचा उन्हें कि भगवान बिल्कुल सच्ची बात कह रही है आज जो तू मर जाता तो हीर भी इसी तरह से कहती अगर रांझा भड़ुआ मर गया तो पड़ा मर जाओ और दूसरा रांझा तैयार है तो बहना बातें राजन दिल में सोच लिया आके आज तू तेरा माँ बाप में भाई बंधन में तू दुनिया में पैदा नहीं तो ये बोली रांझे के दिल में जो खटक गई तो इस वजह से रांझे ने आने की सौ ने जुमा खाई मैं भी पटकी लाठी रांझे ने कामड़ी जब रांझे ने क्या सौ ने खाई आज भी रहूंगा सुबह उठ जाऊंगा सरोवर पीर की बंदी को लाग धोई तल्ला के सौगन मत जंग में जाओ तो, तो बहना आज भी रहेगा सुबह उठ जाएगा तड़के मिलकर सुबह राझे मिलकर हर गजनाई जंग सारे को आने की बहना उसने भगवान की क्या सौगन खाई कभी नहीं आया इतना बात सुन हीर सब यदि उसी बखत तन बद खुशी हो गई उन्हें धन्य भगवान आज सच्ची बात कही तो झूमा गाय ने कही और नहीं कोई कहने वाला मेरे जंग से मेरा साथी नहीं बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल ये बात राझे कांटा लगी गया इस बात का तो हीर साहबजादी अपने झूमा गाय के लिए खिड़क मेरे लिए श्याम गा बगता महीन का दूध काट के नहीं और चने की दाल में फोल रहा ना छोड़ो एक भी चौटी से बीन लियो दूध तुम भिजो के नहीं चीनी खांड गिर के नहीं भर के चने की दाल और झूमा गा के आगे रख दी शाम का भगत था ही सब दी अपने गान का दूध काट के महल में आ जा साढ़ भादव का महीना इंदिरा जा झुकरा झड़ी लग रही है इधर कुछ हीर सब दी एक कपड़ा सिंगार पड़ा हुए रात की मौसम अंधेरी रात तो ददमक्खन का बेड़ा लेके किसने रांझी के पास में ढाके में जा रही है जब नहा भी धो परी पाख हो दर्पण था परी ने पिलंग के माई छंग भी पछेली फेरी परिया ने नौकरी दस दस मोर की फेरी क्या दस्त कड़ाई एक लड़ भी फेरी परिया ने सत लौड़ी नौसर हरी क्या लूम लगाई टिकी भी बिंदी परा के लगी नैन में घारे का सुरमा साई आसी भी कड़े का फेरा हीरो ने घाघरा सिर पर उड़ा क्या समंदर आई चोली भी फेरी जड़ी जड़ाव की तो मक्खन का बेला हीर ने क्या लियो भराई दद मक्खन का बेला भर लिया चौमक दीवला थाल में चस लिया सावन भादवा का महीना रात अंधेरी हाथ से हाथ नहीं दिखे तो हीर सबसे अपना श्रृंगार बना के नहीं एक किसने महल सूत्रेर किसने भगवान इसके लिए कष्ट दे है और किसने ढाके को जारी राजे के पास है जंगशाले में किसी के लिए पता नहीं आखिर सब्जी ढाके में जारी है कावी बेला रे दा दे कावी बेला ए तेरा जाने ही रोरे जबे उतारे तेरी है कचिया ये से दूरे पारी तो दराजे तेरे आई सारा भी सिंगार रे सारा भी सिंगार ए रब मेरा जाने हीरो ने रे कार लिया भी जब हीरो ने ये रे ढाके की सूरत लगाई के माई देवी झाकड़ रे हाँ देवी झाकड़ ए रब मेरा जाने बन मेरे जाबे चाले रे जाबी दण कारनाई बांधे बी कछाटा रे बांधी बी कछाटा ए भैंसा दिखाई कर भी पहुंची रे जा कर भी पहुंची ए रब मेरा जाने जे कारे घाट पे भी हरे लगाई जब बिनो महरा से हीरो उतरती कच्चा बाज की हीर क्या लजती आई लग रहा पड़का गोरा बदन का जैसे म्यान से से उगलती आई सावन का महना ऋतु बरसात की जब राजा इंद्र ने क्या झड़ी लगाई रात भी अंधेरी सिर पे झुकरी बिली झोंका खावे क्या अमर के मन नौ बी महिला से जब हीर ने क्या ढाकी की श्रुत लगाई खई गारा खई पानी हीरो भीती जाई क्या बन के माई तो भगवान ने इसके लिए रास्ते में कितना कष्ट दिया आंधी झक्कर जब भगवान ने क्या दिया चलाई खई गारा खई पानी हीरो भी भी तिजारी क्या बन के माई तो हीर का सच से चौमक देवला उसी तरह से आंधी झक्कर चल रहे पर चौमक देवला नंदन नहीं पाया उस तरह से जुड़ता हुआ जा रहा हे दिल में ये करने के भगवान मुझको तो कितना भी कष्ट दे दे जब मैं लौट के चले जाऊं तो रानी से कभी भी नहीं मिले और प्रभात का टाइम होने के बाद में अपना वतन के लिए चला जाएगा तो चौगड़ डाकू हिर साहब अपने ढाके में नजर फेंके अंधेरी रात हाथ से हाथ नहीं दिखे चौगड़ के आवाज देखे प्रधान जी कहीं नजरे जो नहीं आया और बिल्लाप करती हुई रुधन मचाती हुई हीर चली हुई जाए तो रात का मौसम इधर को हीर सर कहा सत नदी का घाट के ऊपर पहुंच जाए और वहां सत नदी के घाट के ऊपर जाके भगवान ने इसका चारों रास्ता जो घेर लिया तो भगवान हीर का सत देखने के लिए चारों रास्ता घेर ले और भगवान इसके लिए कितनी खैरात दिखाता है और इधर को हीर सब देख के नौबत ने आओ खड़ी खड़ी थर थर का भगवान से स्तुति कर रही है साहबजादी के वो भगवान चौकटदा के वासे घेरा लगा दे तो ही खड़ी खड़ी एक भगवान से करना करे और किसी का भगवान बेड़ा पार लगावे सबे सते लज में ठाडी रही घबराई ये चौगाड़े दास की यार खाए आगे चलू तो नदिया बह रही पीछे ही सके चलू तो नदिया बह रही पीछे ही सक सताए भली करी रे अब यही जोड़ा दिया बिठे कानी रो मर जावे ये सत्य लज के माए आप फिर मिलूंगे मेरा जे को वे दरगा से वारे कहे माए ये ठाड़ी ठाड़े जब वो हीरो रही रे रुदन है खार जब हीरो ने दिल में दहशत खाए ये हाथ जोड़ कर जब मालक से लिया ध्यान पांचे बखत के करती बंदगी नावे भूले नहाए अब सुध दे तू तो हीरो का मेरा बेरा पारे सुदली गे तू की बेड़ा पार लगाए ये ठाड़ी ठाड़े खबर लगी थी जब हीरो की वे दरे घा के माए बेहतर रे में अरे जब हीरो की रे मदद में होरे जब हीरो की मेरे मदद में आए बोली हुरमा अरे जब हीरो से दिया बोले आले के ना मेरी तो माँ लखे का देना पाम भड़ाई ये भली करेगा वो परिया तेरा वे तो पन्ना लाए भाली करेगा परियाया तेरा वे तो पना लाए आई इतनी सुन के अरे जब हीरो का दिल पे इतनी सुन के जब हीरो का दिल पे धीर बंधाए आगे को तो अरे जब हो नदी में जाने दिया पावे ओ जब मालक का आगे कदम बढ़ाए आ का जल तो अरे इत को हट गया मेरे नदी के जल तो इतकू हटी गया वीर नदी के माई आय भली करिया ओ ये मालक ने बेड़ा पारे करिया ये महालख बेड़ा पार लगाए ये सतलज नदी के अरे जब ये घाट पर बेड़ा पार तो हीर नदी कहा सत नदी के घाट के ऊपर चली जाए और हिरन का भगवान ने सब देखने के लिए चारों रास्ता जो घेर लिया तो बाई बगल ने से रुके दाई बिशियर नाग ने खाई आगे चले तो नदी बहरी पीछे हुई सकने सताई भगवान ने एक बगल को तो शेर खड़ा कर रखा माया रूप एक बगल को बिशियर नाग खड़ा कर रखा आगे चले तो नौ नौ ले जा सत नदी बहरी इतनी देखी जब बाली हीर ने दिल में क्या धैर्य सिखाई उन्हें कि मालिक अब मैं कौन से रास्ते के लिए जाऊं आगे चलू तो नदी बहरी है पीछे को लौट के जाऊं जंग चले के लिए तो रांझे से कभी भी नहीं मिलू प्रभात का टेम होने के बाद में अपना वतन को चला जाए हाथ भी जोड़ के जब हीर ने क्या मालिक से लिया क्या ध्यान लगाई मेरी भी बंदगी हो दाता त्रा से उठगी पड़गी से भंग भजन के माई पांचवी भक्ति कही थी तेरी बंदगी हर पिलाई मुख से क्या पिछया नाई जोड़ा जोड़ा हाथ करा तेरी बंदगी हाल गरीबी हो दाता मेरी क्या सुनता नहीं चूस भी कणी हीरो मर जाएगी फिर की रांझी को दरगाह के मैं मैं रांझी के मालिक दरगाह में मिलूंगी और मैं जंग सैली के लिए कभी महल को लौट के नहीं जाऊंगी जब खबर भी लगी प्रभु के दरबार में बेहतर हुरम हीर की मदद कुआई बोली हुरम का साहब पर यहाँ के सुन तेनाई लेके नाव नबी रसूल का तू आग को पैर क्या देने बढ़ाई क्यों भगवान तेरा बेटा के पार लगाएगा इतना जवाब सुन के हेर का दिल पे तसल्ली आ जाए हाथ में चमक जुला थाल में तसरा दद मक्खन का बेला भरे या बदन तमाम भीज रहा बारिश के मारे जब लेके ना श्री भगवान का जब सत नदी में पांव आगे को दिया जमाई भले करी भगवान ने हीर का बेड़ा पार क्या दिया लगाई तो भगवान ने ऐसा किया हाथ सत नदी में पांव देने के बाद में इधर का जल इधर को हट गया इधर का इधर को हट गया हीर के लिए भगवान ने रास्ता दे दिया तो ही साहब दी निकल के सत नदी से और परली घाट के ऊपर पहुंच जाए रात अंधेरी झिकरी साढ़ भादवा का महीना इंदिरा ने झुकरा झड़ी लगी अंधेरी रात हाथ से हाथ नादी के तो हीर साहब यदि अपने भोजता दिल में क्रो दे जो करी ही हीर दा के वास्ते देखे पण कछु बिजली का चमका हो जाए तो नजर आ जाए और नहीं घोर अंधेरा भूल जाए ये हिर दिल में खड़ी खड़ी करने या मालिक आप कोई मकान हो तो अपने भटबेड़ा मार भी हे ले ये बन है बन में पता नहीं कहा जी जाने कहा है कहा नहीं तो हीर का ददमक्खन का बेला चमुन गया एक खड़ी खड़ी एक रुधन मचावे और किसी रांझी के लिए पता पड़े है बजाए दे राझे अंधेरे सिर पे झुक झुकरी बिजली झोंका खाए रात अंधेरे सिर पे झुक रही बिजली झोंका खाए बात यार पहुंची रे बन के भाई अरे बजाए दे राधे धन का बेरा लेकर मैं भी पहुंची आए ददमा खन करे बेरा लेकर मैं भी पहुंची आए तोरे मिलन की ना ने बजाए कर सिंगिणी कहिए ये सिर ये रोना जैसी भी वो सिंगिणी चिर आधी रात हरे बजाए दे जुल जुलमी तो ठाडे ठाडे वे सत नच पे रहियो रुदन मचाए ये हीरो रहिए रुदन मचाए ये तो रे बजा दी आधी रात अरे बाज रही बन फिर आधी ने मधरी बजाए वो बन सिरा बजे में दिन मधर बजाए बनसी बाजे रही ढाके में हीरो नागन सिर लहराए नागन सी लहराए वही बरसी लहराए बरसी बाजे रहे झाके में रांझे बनसी रहो बजाए उठाडो सोचे रहो कराए फिर रांझे जब सोचे रहो कराए जब करे तो दिल के माए वो जैसी सिंहनी रे बन के माए वो जैसी सिंहनी बन के माए वो ऐसी हीरो हरे गजनाए वो ऐसी आधी रात का समा जोगी का बेला लेकर पहुंच रे आए बरसी बाजे रही ढाके में नागन सी लहराए में नागर सी लहराए बंसी बाज रही ढाके में जब मोई बन के माए वो जाकू तन की रसोदी नाए हीर को तन की सोजी लाए वो हीर झकोड़ा बन में खाए वो दीपक येर नंदन का नाय दूध का बेला गीता सुन के धुन अरे जब मन की हीरो ने लीन सूरती लगाए मनसी बाजे रही ढाके में नागन सी लहराए ओ हीरो नागन सी लहराए बनसी बाजे रही ढाके में गई वहारा जे पे जाए उठा डो बन सी रहो बजाए देख रो बन के माए ये बन सी देनी बंद कराए जब रहियो बोल सुनाए वो मिंतर सुन जो ध्यान लगाए वो जैसी सिंहणी रे बन के माए वो ऐसी ही रे हर गज आदत माखन का बेला कृष्ण के जब रांझे नहीं क्या बन सीधी बजाई ठाड़ी हीरो रही क्या धुन धुन मचाई तो कौन इतना जवाब सुन के रांझे ने बंसी बजाई सुन के बंसी हीर सब यदि और कहा रांझे के पास में पहुंच जाए जब हाथ भी जोड़ के हीरो बोलते का सा मिंतर रांझे के सुनता नहीं अरे जैसी भी सिंगड़ी खये बन का बीच में ऐसी हीर क्या हरगज नहीं क्यों मैं तेरे मालिक दरगाह तक का भी धोखा नहीं दूंगी जो तेरी खातर आधी रात का समय जो दूध मक्खन का बेला लेके मैं तो दूध मक्खन का बेले के मैं ढाके में आई हूँ तो राधे का इतना जवाब सुन के और दिल पे तसल्ली आ जाए राधे दिल में सोचा नहीं या भगवान जय सिंगनी ही हीर ऐसी कदी भी नहीं और हीर तिले कभी धोखा नहीं देगी जब बोला रांझा ओलिया कसा परिया के सुती नहीं सोगन भी वो श्री भगवान की अब मेरा वतन को मैं जाने का हरगज नहीं अब मैं मेरे वतन ने कभी भी नहीं जाऊंगा क्यों मुगु मेरा दिल पे पक्का विश्वास है श्रावण भादवा का महीना इंदिरा झुकरा झड़ी लग रही है जो मेरी खातरा आधी रात का समाज जो दुदमक खन का बेला लेके मेरे पास में यहाँ आई है तो मैं मेरा वतन ले कभी नहीं जाऊंगा इतना जवाब सुन के हीर साहबजादी कह लगी की मिंतर तू तो जब तो ये कहा कि मुतल्ला के सोगने मैं कभी जंगसले में नहीं ठहरूंगा और अब तू ये कह रहा है मेरे सामने अब मैं जंगसले से कभी ना जाऊंगा लौट के राजे के लगा होने की परी मेरा दिल पे पक्का विश्वास है और मैं कभी नहीं जाऊंगा हीर साहबजादी कहने में तेरह सौ कदे तेरह सौ में कभी नहीं जाऊंगा और तो राजे हीर का और ज्यादा प्रेम है जो बढ़ गया तो प्रेम भरने के बाद में ढेर सा जद के लिए एक खन का बेल आप के एक गड़बा गिर के सदा किसी डाके से और जंग चाले के लिए ले आ रही है लाजन आ तुझे पीले राजे भुलाए मेरे दे में आ पीले साजन भुलाए लाल की फिरती धुआई वे गुहारों को नाम बताई ओ नायन ने दिया भूल सुनाई राधे सिंह ने दियो खिपाई मुकुल कोई ने नाय सुनाई ददका बिना देखे जाई दिल पे नाय तसल्लेर आए दिल पे नाय तसल्लेर आए मैं खिर कन मैं पहुँचे जाई वे मैयन को बोल सुनाई जिनने सारा जवाब सुनाई हमें तो जैसे देख के आए अरे सारा दिन तो गुजर गया बटे मल के धागीरे में वो सारा दिन तो गुजर गया पटे मल के जागीरे में जाई मेरे दिल में ने साच बताई ये मैं तो जब मैलन से आई राजा इंद्र ने झड़ी लगाई हीरो भी जत बन में आई मैं डाके में पहुंची आई राजे कहीं नजर ना आए लज पे पहुंची आई मेरे घेरा दिया लगाई मैंने ना बिर शक्ति खाई जब इस वर से ध्यान लगाई बेहतर वे तो रम जब आए मेरा बेड़ा पार लगाए तिलज में तो कदम बढ़ाए जल तो दियो तुरत हटाए हीरो जब घाट पर आए हीरो जब ये घाट पे आई तने बन से दहे बजाई मैं तो सुन कर पहुंची आई मारी रे जढ़ाई पतले से ले में ओ मैं मारी रे चढ़ाई पतले से ले में वाखन धरो कम्बल वाको में योगिताए रांझे को दूध दियो पिलाई रांझे लियो तुरत मनाई हिरने गल पर हाथ जमाई रांझे ने लाठी कम रांझे ने लाठी रे बन से लगाई बारह जिने लाचिए बनती लगाई अपनी सांगर ढाल उठाई जब हीरो तोरे लेकर आई जब ढाके से सूरत लगाई हीरो जब महलन कुर आई आधी रात ढाल तिर आई आधी रात ढड़के आए जब स्याले में पहुँचे आए कोई पूछ का पता तो ना अरे सारी रैन गुजर गे अठे मन वो सारी रैन गुजर गे जाए तोर गए ले मैं वो सारी ने गुजर लेज जाये हीर साहबजादी ने सारा हकीकत जो रांझी की नहीं सुना दिया अरे मैं जब स्याले में नान ने बोल सुनाई उसकी मेरे नहीं समझ ना आई दूध का बेला देखा जाई तो उसमें दूध का दूध ही पाई मैं जब रही रुधन मचाई वो खिरकन में मैं आई मई ने सारा हाल सुनाई कोई के ने पता ना सुनाई जब झूमा गाने दिया बोल सुनाई मेरे सारी बात समझ आई झूमा की बात सुन के जब महल को आई मैं जद मक्खन का राजा इंद्र ने झड़ी लगाई हीरो भीष्ट बन में आई सतमत पे पहुंची आई मेरे घेरा दिया लगाई जब दिल में धैर्य दिखाई जब मालिक से ध्यान लगाई बेहतर हुरम हीर की मदद को आई जब मालिक ने मेरा बेड़ा दिया पार लगाई सुर के बंसी के लिए हे सब यदि कहा अपने सतनदी घाट के आप आ जाए अरे जिंदा भी हो तो मिंत्र बजा दे बांसुरी हीरो रहिए क्या रुधन मचाई जैसी भी सिंगनी खैया बन का बीच में ऐसी ही क्या हरगत ना आई वो मित्र के तू बंस के लिए बजा दे इस देश से मैं रुधन मचाई तेन दीनी बंसी बजाई मैं सुन के तेरे पास में आई अरे सारा दिन तो गुजर गया पटमल के झगड़े में दूध मक्खन का बेला पी लीजिए मैं लाई बेले में तो राहीर ने राझे लिया मनाई दूध का बेला दिया पिलाई हीर ने गड़बाएं घेर के नहीं राझे कह लगा उन्हें कि तल्ला के सौगन मैं मेरा उतने कर देवी नहीं जाऊंगा और मेरा दिल पे पक्का विश्वास है